अब तो विक्रांत का शक और ज्यादा बढ़ गया था उसके मन में यही चल रहा था कि कहीं मंजू के मर्डर के पीछे कोई और कहानी तो नहीं है क्या पता मंजू का मर्डर साजिद ने ना किया हो क्या पता कातिल कोई और ही हो और हो सकता है उसका किडनेपिंग केस से भी कुछ कनेक्शन हो विक्रांत की उत्सुकता अब हद पार करती जा रही थी वो जल्द से जल्द साजिद से पूछताछ करना चाह रहा था वो अपने लाइट डिटेक्टर का इस्तेमाल करके सच सामने लाना चाहता था विक्रांत ने अपने बगल में नजर डाला तो देखा कि वहां संगीता गहरी नींद में सो रही थी मौका पाकर विक्रांत धीरे से उठा और इंटेरोगेट रूम की तरफ कदम बढ़ाते हुए जाने लगा तभी उसे अचानक ही सामने से टीम लीडर चेतन राय आते हुए दिखे वो थोड़ा घबराए हुए दिख रहे थे अरे विक्रांत अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था चेतन ने कहा उनके शब्दों में चिंता का प्रभाव देखा जा सकता था क्या हुआ कुछ गड़बड़ है क्या विक्रांत ने पूछा विक्रांत तुम तुम जल्दी जाओ तुम्हें ब्यूरो चीफ अमृतसर बुला रहे हैं कुछ जरूरी काम है उन्हें क्यों वो क्यों बुला रहे हैं विक्रांत ने चौंकते हुए कहा पता नहीं बस तुम जाओ जल्दी ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात सर बुला रहे हैं मिताली मैडम नहीं अमृत अमृत हाँ हाँ समझ गया मैं ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात सर बुला रहे हैं लेकिन क्यों ये तो बताओ अरे बोला ना नहीं पता तुम तुम जाओ जल्दी चेतन ने हड़बड़ाते हुए कहा और और जो भी वो पूछे उसका सावधानी से जवाब देना कुछ गड़बड़ मत करना वहाँ चेतन काफी परेशान लग रहा था वैसे ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात का नाम सुनते ही विक्रांत को अंदाजा हो गया था कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है उसे पता था कि कल रात उसने साजिद को पकड़ने के लिए जो तरीका अपनाया था वो बिल्कुल सही नहीं था और जिसकी वजह से ब्यूरो चीफ उसे पर्सनली मिलने के लिए बुला रहे हैं लेकिन विक्रांत को उनकी कोई परवाह नहीं थी भले ही उसका तरीका गलत था लेकिन उसने बेहद कम समय में मंजू के कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था विक्रांत अपने हिसाब से अपनी जगह पर सही था सो वो छाती चौड़ी करके ब्यूरो चीफ से मिलने के लिए चल पड़ा जैसे ही वो उनके ऑफिस के बाहर गेट पर पहुंचा तुरंत ही उनके प्योन ने उठकर ऑफिस का दरवाजा खोल दिया विक्रांत ऑफिस के भीतर दाखिल हुआ और फिर प्योन ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया इस वक्त उसके चेहरे पर भी भय की लकीरें देखी जा सकती थी इस वक्त ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात कॉफी पी रहे थे विक्रांत ने अंदर घुसते ही उन्हें सैल्यूट किया और फिर चुपचाप खड़ा हो गया अमृत ने इशारे से उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा विक्रांत बड़ी सावधानी से आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया इसके बाद ब्यूरो चीफ अमृत ने कॉफी का कप एक साइड में रखकर विक्रांत की तरफ ध्यान से देखने लगा ये ये चोट कैसे लगी तुम्हें अमृत ने विक्रांत के माथे की तरफ उंगली से इशारा करते हुए पूछा भले ही वो इस वक्त विक्रांत का हाल पूछ रहे थे लेकिन उनके चेहरे को देखकर बताया जा सकता था कि वो इस वक्त काफी गुस्से में है अरे कुछ नहीं हुआ सर विक्रांत ने हंसते हुए कहा उसे मानो अमृत का गुस्से की कोई परवाह ही नहीं थी बस आठ टांके लगे हैं सर दो दिन में ठीक हो जाऊंगा अच्छा अमृत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया मैंने सुना है कि तुमने कल रात को मंजू के कातिल को अरेस्ट कर लिया है तुम तुम खुद को क्या कोई अमृत कुछ कहना चाहते थे लेकिन शायद उन्हें कोई शब्द नहीं मिला इस वजह से वो शांत हो गए विक्रांत अभी भी मजाक के मूड में लग रहा था उसने हंसते हुए कहा <laughs> अरे नहीं सर वो तो बस आपसे थोड़ा बहुत सीखा है तो छोटे मोटे मुजरिम पकड़ लेता हूँ अमृत ने गुस्से में आकर टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि तुम्हारे द्वारा कानून को हाथ में लेने के कारण और दूसरे पुलिस वालों के साथ गाली गलौज करने के कारण साथ ही तुम कोई भी रूल नहीं मानते इस वजह से मैं तुम्हें अगली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने तक के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ क्या विक्रांत शॉक्ट रह गया आपका मतलब क्या है मुझे क्यों सस्पेंड किया जा रहा है क्यों का क्या मतलब है क्या तुम्हें पता नहीं है ब्यूरो चीफ अमृत ने चौंकते हुए कहा कल रात तुमने गुंडे बुलाकर साजिद की गर्लफ्रेंड को पिटवाया और फिर तुम खुद कुछ पुलिस वालों को लेकर खालिद की टी शॉप पर गए और वहाँ भी उसे बेरहमी से पीटा तुम्हें आइडिया भी है कि तुमने क्या किया है वहाँ दो पुलिस वाले भी तुम्हारे साथ हैं वो आई विटनेस है पुलिस का काम कानून की रक्षा करना होता है कानून हाथ में लेना नहीं सर विक्रांत ने तुरंत ही जवाब देना शुरू किया सर वो दोनों साजिद के छुपने में मदद कर रहे थे उन दोनों को पता था कि साजिद कहाँ छुपा हुआ है फिर भी उसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे खालिद ने तो खुद ही साजिद के छुपने का इंतजाम किया था उसने अपने ही चौल में उसे छुपने के लिए जगह दी थी ये सब तुम अभी कह रहे हो पहले तो तुम्हारा ही अनुमान ही था यानी कि तुम जुआ ही खेल रहे थे वो भी किसी की जान को दाव पर लगाकर अगर सच में साजिद की गर्लफ्रेंड को उसके बारे में कुछ पता ना होता तो अगर खालिद को सच में साजिद के बारे में कुछ ना पता होता तो एक जिम्मेदार पुलिस वाला कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करता है सिर्फ शक के आधार पर ही किसी पर जानलेवा हमला नहीं करता है समझे नहीं सर विक्रांत ने थोड़े सख्त लहजे में कहा हमारी टीम लीडर मंजू सचदेवा को बीच रोड पर मार दिया गया और हम चुपचाप बैठे देखते रहते क्या हम सिर्फ सबूत और गवाह के पीछे भागते रहे यही पुलिस का काम है सर बिना एक्शन के हम शायद ही कभी साजिद को पकड़ पाते सर कल वो भागने की फिराक में था अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचे होते तो खालिद की मदद से अब तक वो भाग चुका होता क्या तुम अब एक्सक्यूजेज ला रहे हो ब्यूरो चीफ सर ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा अच्छा चलो मान लिया तुम्हें खालिद से पता लगा कि साजिद इस वक्त चौल में छुपा हुआ है लेकिन फिर तुम वहाँ पर अपने साथ छह ऑफिसर्स लेकर पहुँच गए और फिर चौल में रह रहे लोगों को पीटना शुरू कर दिया क्यों भाई ऐसा क्यों किया और उन्हें इतनी बुरी तरह से पीटा है कि आधे अभी आईसीयू में भर्ती हैं। एक दो की तो जान भी जा सकती है पुलिस का काम लोगों की सुरक्षा करना होता है लोगों की जान लेना नहीं समझे और तुम्हारे हिसाब से वो सभी खालिद के लिए काम करते थे फिर भी वो थे तो इंसान ही ना मुंबई के ही सिटीजन थे अगर उन्होंने कुछ गलत किया था तो तुम्हारा काम उन्हें जाकर अरेस्ट करना है उन्हें पीटना नहीं है सर सर क्या कह रहे हैं आप विक्रांत ने ब्यूरो चीफ अमृत को बीच में ही रोकते हुए कहा सर वहाँ चौल में कुल तीस चालीस लोग थे हम जब वहाँ पहुँचे तो उन सभी ने मिलकर हमें घेर लिया हम सिर्फ तीन लोग ही थे अगर हमने एक्शन ना लिया होता तो फिर तो वो हमारी ही जान ले लेते और क्या हम कानून की रक्षा करते हुए उन्हें कानून हाथ में लेते हुए खड़े देखते रहते अगर उन्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस फोर्स का वेट करते तब तक तो वो हमारा काम तमाम कर देते और दूसरी बात ये कि हर किसी को अपनी सुरक्षा करने का हक है मैं अगर पुलिस ऑफिसर ना होता फिर भी मुझे अपनी सुरक्षा करने का तो हक है ना वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सेल्फ डिफेंस में ही हुआ है विक्रांत ब्यूरो चीफ अमृत की सांसें इस वक्त काफी तेज हो चुकी थीं। तुम अभी तक खुद के लिए सिर्फ एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो तुम्हें तो नहीं लगता कि कल रात जो कुछ भी तुमने किया वो गलत था मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने कल रात जो कुछ भी किया वो सही था विक्रांत ने ब्यूरो चीफ सर की आंखों में झांकते हुए कहा मुझे किसी भी हालत में मंजू मैडम के कातिल को पकड़ना था और मैंने उन्हें पकड़ लिया ये क्या बकवास कर रहे हो तुम ब्यूरो चीफ अमृत ने थोड़े गुस्से भरे लहजे में कहा पुलिस का क्या दायित्व होता है वो जानते भी हो तुम हम सिर्फ अपनी मर्जी के अनुसार हर चीज नहीं कर सकते हमारा काम सबूत और गवाह इकट्ठा करना है उसके बाद एक्शन लेना है विक्रांत ब्यूरो चीफ अमृत की तरफ थोड़ी अजीब नजरों से घूरने लगा जहां पर team leader Manju Sachdeva madam का मर्डर हुआ है वहां के सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ इतना ही दिख रहा है कि साजिद वहां से जा रहा है वो वहां कैसे आया इसका कोई सबूत नहीं मिला है अभी तक और जाते हुए भी उसके हाथ में कोई भी हथियार नहीं दिख रहा है मंजू को जिस चाकू से मारा गया है वो चाकू भी उनके मर्डर के स्थान से एक किलोमीटर दूर कहीं मिला है आपको नहीं लगता कि ये मर्डर केस थोड़ा अजीब है अब तुम सस्पेंड हो चुके हो तुम्हें अब ये सब बताने की जरूरत नहीं है तुम केस की चिंता करना अब छोड़ दो